ओ जिज्ञासा समाधान में आज सकाम निष्काम के बारे में प्रश्न है प्रश्न है निष्काम भावना से और सकाम भावना से किए जाने वाले कर्मों में कितना अंतर है सकाम कर्म और निष्काम कर्म अब इनमें अंतर देखना है तो दो दृष्टियों से देख सकते हैं एक तो करने की दृष्टि से और दूसरा उसके फल या परिणाम की दृष्टि से उपलब्धि की दृष्टि से करने की दृष्टि से तो स्पष्ट अंतर है एक कामना से युक्त होके किया जाता है कामना का अर्थ है लौकिक कामना से युक्त होके सांसारिक कामना से युक्त होकर के सांसारिक कामना का मतलब है हमारी जो पांच इंद्रियां हैं इंद्रियों के सुख के लिए भौतिक सुखों के लिए शारीरिक सुखों के लिए इन सब सुखों की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है उसे सकाम कर्म कहते हैं और निष्काम कर्म का अर्थ है जो इन कामनाओं से रहित होकर कर्म किया जाता है इन कामना अर्थात सांसारिक भौतिक कामनाओं से रहित होकर के लौकिक कामनाओं से रहित होकर के जो कर्म किया जाता है उसको निष्काम कर्म कहते हैं दूसरे शब्दों में इसे कहें कि जब केवल मुक्ति की कामना होती है ईश्वर प्राप्ति की कामना होती है मोक्ष की कामना को रखते हुए जो कर्म किया जाता है उसे निष्काम कर्म कहते हैं निष्काम कर्म का सामान्यतः जो अर्थ लोग लेते हैं वो ये लेते हैं कि कोई भी कामना ना होना ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता वैश्य दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस विषय को स्पष्ट कहा है उन्होंने कहा कि जो कर्म पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से युक्त किए जाते हैं वो सकाम कर्म है और जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं जिसे उन्होंने कहा ईश्वर ऐष्णा ईश्वर को पाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन्हें निष्काम कर्म कहते हैं तो सकाम और निष्काम कर्म में अंतर क्या है करते समय अंतर रहेगा एक में लौकिक सुखों की लौकिक दुख की निवृत्ति की कामना रहेगी एक में ईश्वर की अर्थात ईश्वरीय सुख की प्राप्ति की कामना रहेगी ये अंतर है दोनों में और फल की दृष्टि से सांसारिक सुखों की कामना से जो कर्म किए जाते हैं उनसे सांसारिक सुख मिलते हैं और उन सांसारिक सुखों के साथ में जो दुख मिलते हैं वो भी प्राप्त होते हैं सांसारिक सुखों के साथ जो दुख मिश्रित होते हैं वो भी प्राप्त होते हैं वहां पर और निष्काम कर्मों के परिणाम स्वरूप जो मुक्ति की प्राप्ति होती है निष्काम कर्ता को मुक्ति की प्राप्ति होती है ईश्वर की प्राप्ति होती है जो तो ईश्वरीय आनंद लौकिक आनंद से बहुत ऊंचा है और वहां दुख पूर्णतः समाप्त हो जाता है दुख पूरी तरह समाप्त रहता है तो लौकिक सुख की अपेक्षा ईश्वरीय सुख अधिक होता है बहुत ऊंचा होता है एक अंतर दूसरा लौकिक सुखों के साथ में दुख मिश्रित होता है और ईश्वरीय सुख के साथ में दुख मिश्रित नहीं होता तो सकाम और निष्काम कर्म में ये अंतर होता है लेकिन इनका प्रश्न कुछ आगे चल करके और जगह पर पहुंचा हुआ है तो लिखते हैं कि परिभाषा जानता हूं मैं सकाम निष्काम की परिभाषा तो जानता हूं लेकिन जो परिभाषा अभी दी गई वो नहीं थी आप जो परिभाषा मान के चल रहे हो वो अलग है क्योंकि इनके आगे के प्रश्न ऐसे हैं इनकी परिभाषा क्या है किसी भी कामना को मन में रख करके लक्ष्य को मन में रख करके जो कर्म किया जाता है वो सकाम कर्म है और जिस कर्म को बिना किसी इच्छा के बिना किसी कामना के किया जाता है बिना लक्ष्य को रखे कर्म किया जाता है उसे निष्काम कर्म कहते हैं जैसा कि लोग अधिकतर लेते हैं ऐसा ही इन्होंने लिया इसलिए ये इनके आगे के प्रश्न हैं तो क्या लिखते हैं लेकिन ख्याल ये आता है सवाल ये आता है कि कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को पाना चाहता है लक्ष्य तो है यदि सकाम भावना से करता है तो मुझे लगता है कि सकाम भावना से किए जाने वाला कर्म उसके लक्ष्य तक जल्दी पहुंचाता है अर्थात सकाम कर्म से लक्ष्य जल्दी पाया जा सकता है निष्काम कर्म की अपेक्षा से लक्ष्य वही है दोनों का इन्होंने लौकिक लक्ष्य या आध्यात्मिक लक्ष्य ईश्वर लक्ष्य ये भेद नहीं किया है लौकिक लक्ष्य ही है मेरे को इस पद प्रतिष्ठा को पाना है और वो कर्म कर रहा है ये उसका लक्ष्य बनी लक्ष्य वही है लेकिन एक सकाम भावना से कर रहा है और एक निष्काम भावना से कर रहा है तो जो सकाम भावना से कर रहा है वो शीघ्र लक्ष्य को पा सकता है निष्काम वाला नहीं उसके लिए कारण बताते हैं क्योंकि सकाम कर्म में इच्छा होती है उसके बदले ये तो मिले चाहे वो धर्म हो कीर्ति हो धन हो मैत्री हो अभ्यास हो आदि कुशलता हो कुछ भी हो लेकिन कुछ मिलना चाहिए कुछ मिलने की कामना इच्छा है वहां पर चूंकि इच्छा है और जिन चीजों को पाने की कामना है उसके मन में उनमें सुख भी दिखाई दे रहा है उसको लाभ दिखाई दे रहा है तो तीव्र गति से अधिक यत्न करेगा व्यक्ति जब सकाम कर्म करता है तो वह चाहता है कि दुनिया देखे कि मैं कितनी कुशलता से या नए ढंग से इसे कर रहा हूं जिससे होता क्या है वह बिना आलस्य के और पुरुषार्थ पूर्वक गुणों को आसानी से धारण कर लेता है और पालन करता है तो निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई भी व्यक्ति मेरे विचार से ये सोच रखकर कोई भी लक्ष्य जल्दी अच्छे तरीके से नहीं पा सकता अगर उसके मन में दिखावा नहीं है कि जो मैं कार्य कर रहा हूं उसे लोगों का भला होगा देश की उन्नत देश उन्नति करेगा शांति संस्कृति सभ्यता बनेगी हर लोग पवित्रता को धारण करेंगे आदि आदि गुण जनता में होंगे जब धार्मिक होंगे मेरा यश होगा अगर वो अपने आप को दिखाने की इच्छा नहीं रखता है तो वो उसको पा नहीं सकता देरी से पाएगा और इसी को कर रहे हैं अब कोई व्यक्ति ऐसा देश बनाना चाहता है तो निष्काम कर्म करके वो आलसी बनता है ऊपर जो इन्होंने बताया ऐसा देश बनाना चाहता है जो धार्मिक हो पुरुषार्थी हो तो ऐसा बनाने की इच्छा जिसमें नहीं होगी तो वो तो आलसी बन जाएगा बोले मैं तो ऐसे ही बनाऊं मेरा तो यह अनुभव है लेकिन मुझे बताया कि बिना इच्छा किए जाने वाला कर्म निष्काम है और मैं तो इससे आलसी और तमोगुणी हो गया हूं ठीक बात है अगर इच्छा और लक्ष्य नहीं है तो व्यक्ति आलसी और तमोगुणी हो गए इच्छा एक ऐसी जंजीर है जंजीर मतलब बंधन रस्सी जिसके बंधने पर आदमी भागता है वैसे तो जंजीर और रस्सी कैसी होती है जिससे बंधने पर आदमी का भागना बंद हो जाता है कम हो जाता है लेकिन इच्छा एक ऐसी रस्सी या सांकल है बंधन है कि जिसके जिससे बंधने पर आदमी खूब भागता है तो इच्छा छोड़ दी तो भागेगा ना आगे इन्होंने इसी का विस्तार किया है तो देखिए इसमें एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि निष्कामता का अर्थ किसी भी कामना से रहित हो जाना नहीं है कामना नहीं तो कर्म भी नहीं जिसकी कामना नहीं है उसकी तो चेष्टा नहीं हो सकती अकामस्य क्रिया का चित दृश्यते नेह कर ही चित यद ही कुरुते किंचित तत्त काम से चेष्टितम सत्यात प्रकाश में दिया है महर्षि ने जो कामना रहित है अकाम है उसकी तो कोई क्रिया देखी ही नहीं जाती है बिना कामना के तो क्रिया होती ही नहीं न्याय दर्शन में भी हमने देखा वात्सायन जी एकदम स्पष्ट लिखते हैं कामना इच्छा नहीं है तो कर्म प्रवृत्ति होगी ही नहीं जो जो भी करता है वो कामना की ही चेष्टा है कामना के कारण ही करता है इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि निष्काम मतलब कामना से रहित होना वो निष्काम शब्द का अर्थ गलत लेते हैं वैदिक पद्धति से आर्ष पद्धति से जो अर्थ होना चाहिए उससे भिन्न लेते हैं वो अर्थ ऐसा होगा तो आलस्य तमोगुण निष्क्रियता उदासी ये सब आएंगे जो आप कह रहे हो लेकिन वैदिक दृष्टि से जब कहा जाता है निष्काम कर्म करें वहां निष्कामता का अर्थ कामना रहित है ही नहीं कामना तो करनी है कामना हम किस चीज की करते हैं मनुष्य या प्राणी मात्र भी किसकी कामना करता है सुख की कामना करता है और अच्छे से अच्छे सुख की कामना करता है बड़े से बड़े सुख की कामना करता है दुख रहित सुख की कामना करता है ये मानव का स्वभाव है आत्मा का स्वभाव है इससे रहित कोई नहीं है इससे रहित कोई बन ही नहीं सकता ये आत्मा का नित्य स्वभाव है वो सुख को चाहता है और दुख से दूर होना चाहता है आत्मा अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता कभी छोड़ ही नहीं सकता तो फिर अंतर क्या है एक वो रास्ता है एक वो लक्ष्य है जहां आत्मा की इच्छा पूरी नहीं होती है कितनी भी भागदौड़ कर ले कितने भी वर्षों तक जन्म जन्मांतर तक उस रास्ते पे चलता रहे उस लक्ष्य को पाता रहे थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा पूरा भी पाले आत्मा की जो इच्छा है जिस कारण से वो दौड़ लगा रहा था वो वहां कभी पूरी नहीं हो सकती और एक दूसरा रास्ता है जहां आत्मा की वो इच्छा पूरी होती है वो दूसरा रास्ता दूसरा लक्ष्य है जहां आत्मा की इच्छा पूरी होती है ये अंतर है कामना दोनों तरफ है दोनों तरफ सुख की ही कामना है दोनों तरफ दुख से छूटने की ही कामना है लेकिन एक शैली से चलने पे वो कामना अभिलाषा पूर्ण नहीं होती दूसरी तरफ जाने से पूर्ण होती है इसलिए जो निष्काम करता होते हैं उनके मन में भी लक्ष्य होता है उनके मन में भी अपना हित करने की भावना कामना होती है और वो भी समाज का राष्ट्र का हित करना चाहता है करता है वो निष्क्रिय नहीं होता जब बड़ा लक्ष्य सामने हो अधिक परिश्रम साध्य हो अधिक समय में पूरा होता हो तो व्यक्ति अधिक प्रयत्न करता है छोटे लक्ष्य के लिए कम प्रयत्न करता है जिसको लक्ष्य स्पष्ट हो गया है ईश्वर की प्राप्ति ही सबसे बड़ा लक्ष्य है सबसे बड़ी उपलब्धि है वो तो निठल्ला नहीं बैठ सकता वो तो बहुत प्रयत्न करेगा सांसारिक व्यक्तियों से भी अधिक प्रयत्न करेगा लेकिन उसके प्रयत्न अपने लक्ष्य के अनुरूप होंगे जैसे सांसारिक व्यक्ति के प्रयत्न पुरुषार्थ उसके लक्ष्य के अनुरूप होते हैं जो भी सांसारिक लक्ष्य भिन्न भिन्न हो तो मुक्ति की तरफ जाने वाला व्यक्ति अपने भिन्न प्रयत्न करता है कुछ समानताएं होती है लेकिन भिन्नता होती है लेकिन वो आलसी या तमोगुणी नहीं हो सकता निष्क्रिय नहीं हो सकता आपका जो अनुभव है ऐसा बहुत साधकों का अनुभव है लोगों को हम ऐसा देख सकते हैं साधकों को उन्होंने सुना कि निष्काम होना है हमें लौकिक सुखों की इच्छा नहीं करनी है यश के लिए नहीं करना है धन के लिए नहीं करना है पुत्र या शिष्यों के लिए हमें कार्य नहीं करना है तो जैसे ही वो इसको छोड़ते हैं कम करते हैं उतने उतने वो निष्क्रिय और आलसी होते चले जाते हैं कारण है कि उनका मुक्ति का लक्ष्य अभी बना नहीं होता है बहुत थोड़ा बना हुआ होता है ये दो रास्ते एक अध्यात्म का और एक सांसारिक सुखों का यदि व्यक्ति लौकिक मार्ग से हट तो रहा है लेकिन इधर बढ़ नहीं रहा है तो अलसी बनेगा और बहुत सारे साधक आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे देखे जाते हैं मिलेंगे होते हैं ऐसे एक होता है मुक्ति की तरफ लगन लग गई तो इधर से अपने आप पीछे हट गया ईश्वर प्राप्ति की लगन लग गई तो लौकिक लक्ष्यों से वो स्वतः हट गया इधर चूंकि समय देने लगा इधर चूंकि श्रम करने लगा तो इधर का समय और श्रम उसका कम हो गया ऐसा जो कर रहा है वो तो ठीक चल रहा है इधर का प्रयत्न कर नहीं पा रहा है वो आध्यात्मिक प्रयत्न वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि लक्ष्य ही नहीं बनाया अभी उतनी प्रबलता ही नहीं है मुक्ति की उसको समझा ही नहीं है उसके लाभों का पता ही नहीं है अभी थोड़ा पता है ऐसे में लोगों के कहने से इधर से मात्र हट जाएगा तो इधर तो बढ़ नहीं रहा है वो व्यक्ति आलस्य में जाएगा ऐषणाओं को छोड़ करके सकामता को छोड़ करके निष्कामता कब आती है जब व्यक्ति इन सुखों में दुख देखता है जब इन ऐषणाओं में वो दुख देखता है तब इधर से हटके इधर बढ़ता है जिस व्यक्ति को पुत्रेषणा में दुख दिखाई नहीं दे रहा है संतानें सबको अच्छी लगती हैं अपनी बेटे बेटियां स्वस्थ हों सदाचारी हों प्रगति करें अच्छा पद प्रतिष्ठा पाए माता पिता को परिवार वालों को बहुत प्रसन्नता होती है सब चाहते हैं क्या उसमें दुख दिखाई देता है जब बच्चे गलत व्यवहार करते हैं उसमें दुख है वो तो सबको दिखाई देता है बच्चे जब दुत्कारते हैं अपमान करते हैं गलियां देते हैं ध्यान नहीं रखते सेवा नहीं करते पूछते नहीं है इससे जो दुख होता है वो तो हर किसी को दिखता है ये कोई बड़ी बात नहीं है उत्तरेषणा में जो दुख दिखना है वो किस स्थिति में संतानें सब तरह से अच्छी हैं सेवा करती हैं पूछती हैं ध्यान रखती हैं इलाज कराती हैं सम्मान करती हैं सब कुछ अच्छा है कोई कमी नहीं है सदाचारी हैं अपयश नहीं देती हैं माता पिता का नाम बढ़ रहा है उनसे उस संतान के चाहने में भी जब दुख दिखने लगता है तब व्यक्ति निष्काम बनता है नहीं तो सकाम ही रहता है निष्काम नहीं बन सकता धनेशना धन संपत्ति रुपए सोना चांदी मकान खेत फैक्ट्री जो भी ऐश्वर्य होते हैं इनसे जो दुख मिलता है धन के आने से जो डर लगता है कोई चुरा के ना ले जाए ये सबको पता लगता है इसका कुछ उपाय भी कर लेते हैं फैक्ट्री में घाटा हो गया तो दुख आता है वो सबको पता लगता है भूकंप आ गया मकान गिर गया सबको पता लगता है आग लग गई दुख आया सबको पता लगता है ये सब ना होते हुए भी सब निर्बाध रूप से ठीक हैं तब भी उसमें जो दुख देख लेता है वो निष्काम बनता है और यही बात लोकेशना में है लोकेष्णा यानी यश की इच्छा प्रशंसा यश सम्मान बहुत अच्छा लगता है जब यश की कामना हो और यश न मिले यश के सम्मान के बदले में अपमान मिल जाए तो दुख होता है सबको होता है यश कम मिले तो भी दुख होता है हमारा यश कोई और ले जाए श्रेय कोई और ले जाए दुख होता है हमें ये तो सबको पता लगता है इस दुख को देख करके यश से जो दूर हट रहा है ये निष्काम मार्ग पे अधिक चल नहीं सकता है ये सामान्य बात है यद्यपि इतनी सामान्य भी नहीं है लेकिन रात दिन हम अनुभव करते हैं लेकिन फिर भी यश का सुख इतना है कि उसी तरफ बढ़ते हैं धन संपत्ति का सुख इतना अधिक हमें लगता है कि उससे मिलने वाले दुख के होते हुए भी हम उसी की तरफ भागते हैं संतानों से मिलने वाला दुख कितना भी है लेकिन फिर भी उसी की तरफ भागते हैं उन्हीं से चिपटे रहते हैं क्योंकि वहां सुख अधिक दिखाई देते हैं जो व्यक्ति यश में भी दुख देखने लग जाता है ऐसा यश जो एकदम वास्तविक हो चापलूसी नहीं हृदय से कोई यश कर रहा है प्रशंसा कर रहा है सब वाहवाही कर रहे हैं कितना श्रेष्ठ व्यक्ति है कितना परोपकारी व्यक्ति है कितना गुणी है इतना सा भी कलंक नहीं है ऐसा पवित्र शुद्ध सम्मान जिसको मिल रहा है उसमें भी जब दुख देखता है वो व्यक्ति निष्काम बन सकता है इसके बिना इस स्थिति तक पहुंचे बिना यानी पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा की अच्छी तरह पूर्ति में भी दुख देखे बिना जो व्यक्ति इन ऐष्णाओं को छोड़ता है कम करता है वो आलस्य में जाएगा ही तमोगुण में जाएगा ही क्योंकि इधर लगन की बात ही नहीं है उसकी उसने ये समझा ही नहीं है कि यहां पर दुख है वहां से भागेगा कैसे वो अलग कैसे होगा और इधर दुख रहित सुख है ये उसको पता ही नहीं है अभी लगन ही नहीं लगी इधर का जितना भी शुद्ध सुख है उसमें दुख मिश्रित है ये उसको अभी पता ही नहीं है अनुभव ही नहीं आया है व्यक्ति इन चीजों में जब दुख देखता है तो साथ में ये भी समझता है कि इन दुखों का निवारण मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा और उन दुखों के लिए इन सुखों में स्थित दुखों से बचने के लिए वो प्रयास भी करता है ठीक है मैं बहुत खाऊंगा पीऊंगा सुख लेऊंगा रोग आएगा तो इलाज करा लूंगा उसके लिए पैसा अतिरिक्त जोड़ के रखता है उसके लिए चिकित्सालय का पता करके रखता है उसके लिए चिकित्सक को ढूंढ के रखता है इधर संसार के सुखों में जो दुख उसे दिखाई देते हैं वो ये सोच के चलता है कि इन दुखों को मैं हटा लूंगा और फिर शुद्ध सुख प्राप्त कर लूंगा अर्थात कामना तो इधर की ही बनी हुई है उसकी ऐसा व्यक्ति निष्काम कर्म नहीं कर सकता मेरे इस कहने का ये अर्थ नहीं है कि संसार में जीते हुए जो दुख आते हैं रोग आदि उनका निवारण नहीं करना चाहिए उनका निवारण अवश्य करना चाहिए चिकित्सक का ध्यान अवश्य रखना चाहिए चिकित्सालय का धन का मकान का आंधी तूफान से बचने का सब उपाय करने चाहिए इसका मना नहीं कर रहा हूं शास्त्र भी मना नहीं करते हैं इसका लेकिन इन्हीं को ही लक्ष्य बना लेना इन्हीं में ही सुख देखना इन्हीं को ही चरम लक्ष्य बना लेना ये सकामता है और इनको साधन के रूप में मुक्ति के लिए प्रयोग करना ये निष्कामता है निष्काम व्यक्ति भी घर में रहता है झोपड़ी में रहता है कुछ ना कुछ तो चाहिए निष्काम व्यक्ति भी ठंड लगने पे कंबल रजाई ओढ़ता है उसको भी कुछ ना कुछ तो चाहिए भूख लगने पे भोजन की इच्छा वो भी करता है उसे भी चाहिए इससे वो व्यक्ति सकाम नहीं हो जाता इन लौकिक वस्तुओं का भौतिक वस्तुओं का प्रयोग भौतिक वस्तुओं की कामना भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रयत्न यदि सांसारिक सुखों के लिए है मात्र सुखों के लिए सांसारिक सुखों के लिए तो सकामता है और इन सब के लिए प्रयत्न यदि ईश्वर की प्राप्ति के लिए है तो इन सब चीजों को पाने का प्रयास पाना भी निष्कामता कहलाता है संसार में परिवार में कष्ट हो गया झगड़ा हो गया हानि हो गई उधार हो गया दिवाला हो गया बदनाम हो गया तो छोड़ छाड़ करके साधु बन गया कि सकामता को छोड़ दिया निष्कामता को आ गया ये बिल्कुल नहीं है निष्काम वो बन सकता है जो इन तीनों में दुख देखे और इन तीनों में दुख वो देख सकता है जिसने इनको पाया हो पहले इनकी अच्छी स्थिति जिसने पाई हो देखी हो कुछ तो किया हो और फिर उसमें दुख अनुभव कर लिया हो जिसने और अब वो छोड़ करके आ रहा है अब इधर जा रहा है बोध ज्ञान के स्तर पर समझ करके निष्काम बन रहा है वो इधर जाएगा और वो कभी भी आलसी नहीं रह सकता वो कभी निष्क्रिय तमोगुणी नहीं रह सकता वो पुरुषार्थी है उसने इधर पाया है बहुत कुछ उपलब्धि पाई है असफल होकर के अध्यात्म में नहीं आया है वो उधर तो सफल होकर के आया प्रयत्न है जिस भी क्षेत्र में है वो प्रयत्न कर रहा है पुरुषार्थ उसका स्वभाव है वो इधर आकर के निष्क्रिय आलसी नहीं होगा पुरुषार्थ ही करेगा दूसरा इधर उसने इतना पुरुषार्थ किया है और इतना पुरुषार्थ करके भी उसे लगा कि मैं पूरा सुख नहीं पा सका और जो मेरे से ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं सामर्थ्य वाले हैं उनमें भी कोई ऐसा उसे दिखाई नहीं देता जिसने कि पूर्ण सुख को पा लिया उसे भी दुख दिखाई देता है वहां उसे लगता है रात दिन व्यक्ति इतना मेहनत करता है न नींद की खबर न खाने की खबर न और कुछ न घर वालों की खबर लगा है इतने रात दिन भाग दौड़ में इतनी मेहनत करके भी कितना सा मिला क्या मिला दुख मिश्रित तो जब मैं इतने शुद्ध सुख को पाना चाहता हूं तो मुझे इससे कम मेहनत करनी होगी या अधिक मेहनत करनी होगी उसके मन में क्या बात रहेगी इसके लिए तो ये और भी ऊंचा लक्ष्य है मुझे तो और मेहनत करनी पड़ेगी और वो और मेहनत करेगा ये अलग बात है कि उसकी शारीरिक मेहनत कितनी होती है और मानसिक कितनी होती है ये भिन्नता अवश्य रहेगी क्योंकि अध्यात्म का रास्ता बहुत कुछ आंतरिक है इधर का रास्ता तो अधिकतर बाह्य है शारीरिक है उसका क्रियाकलाप बाहर अधिक दिखता है इधर बाहर उतना नहीं दिखेगा लेकिन जो संसार को समझ करके इधर पुरुषार्थ करके फिर इस मार्ग पर आया है वो यहां निष्क्रिय नहीं रह सकता उसे इस जीवन का महत्व तो पता है मनुष्य जीवन की अमूल्यता पता है दुर्लभता पता है सब कुछ समझ रहा है इसलिए वो इधर प्रयत्न अवश्य करेगा तो जो सच्चा निष्काम व्यक्ति है वो कभी आलसी नहीं हो सकता अब हमें कैसे पता लगता है कि हम वास्तव में निष्काम भावना से युक्त हैं या नहीं है ऐसे ध्यान से देखें हर व्यक्ति को पता लगता है यदि निष्कामता से हमारे में निष्क्रियता आलस्य आ रहा है तो समझ लेना अभी निष्कामता नहीं आई है ऐसे में यदि वो सकाम कर्म करता है तो दोष नहीं है ये जो सकाम निष्कामता की बात है इसमें निष्कामता अवश्य ही श्रेष्ठ है किंतु सकामता भी गलत नहीं है धर्म पूर्वक जब सकाम कर्म किए जाते हैं पवित्र कर्म किए जाते हैं वो सकाम है तो वो ही उसको निष्कामता पे ले जाएंगे एक दिन सकामता कोई गाली नहीं है सकामता कोई दोष नहीं है हाँ सकामता के कारण यदि हम अधर्म करते हैं अन्याय करते हैं अत्याचार करते हैं अपना पतन करते हैं दूसरों की हानि करते हैं ये गलत है ऐसा करना निंदनीय है जिस व्यक्ति को अभी पता है कि मैं सकामता को छोड़ता हूं यश को छोड़ता हूं पुत्रेष्णा वित्तेष्णा को छोड़ता हूं तो मैं तो निष्क्रिय हो रहा हूं तो निसंकोच सकामता रह करके सकाम रह करके कर्म करे वो मुक्ति से पीछे नहीं हट रहा है मुक्ति की तरफ ही जा रहा है अभी धर्म पूर्वक सकामता मुक्ति की तरफ ले जाती है उस सीढ़ी तक वो जब ऊंचा पहुंचेगा तब निष्कामता पे जाएगा वो उससे पहले जो निष्कामता में जाने का प्रयत्न करते हैं वो निष्कामता को नहीं पा सकते नहीं पा पाते इसलिए लोकेष्णा पुत्रेष्णा वित्तेष्णा ये व्यक्ति को सक्रिय रखती हैं ये बनाई ही इसलिए है आयुर्वेद कहता है कि ये ऐशनाएं करनी चाहिए हमें ऐशनाएं करनी चाहिए तभी जिएंगे हम आयु का वेद है वो ऐष्णाओं को करने को कहता है प्राणेष्णा या जीवेष्णा जीवने की इच्छा भी रखनी चाहिए एक ऐष्णा और कही और साथ में उन्होंने एक परलोकेष्णा भी कही है फिर परलोक की भी इच्छा करनी चाहिए कि मेरा अगला जन्म अच्छा बने मैं मुक्ति में जाऊं इत्यादि वो ऐसाएं भी करनी चाहिए तभी ये जीवन चलेगा लेकिन अध्यात्म में सकाम निष्काम की बात सुनते सुनते हमारे मन में क्या मन बैठ जाता है कि सकामता तो मुक्ति में बाधक है सकामता को तो जितनी जल्दी हो सके हम छोड़ दें एक सीमा पे जाकर के सकामता बाधक है नहीं तो पहले अधर्म को छोड़ने के लिए यदि कोई धर्म पूर्वक सकामता रखता है सकाम कर्मों को करता है तो वो मुक्ति में सहायक है बिना सकामता के रखे वो अधर्म से हट ही नहीं पाता है हटेगा ही नहीं तो सकामता रखें जब तक आवश्यक है तब तक रखें अपनी प्रगति करें समाज की प्रगति करें परिवार की करें राष्ट्र की करें खूब करें विद्या की उन्नति करें शरीर की उन्नति करें बुद्धि को खूब बढ़ाएं इस कामना से करें कि लोग मेरे को कहेंगे देखो कितना स्वस्थ है कितना विद्वान है कितना बलवान है कितना गुणवान है लोग मेरे को कहें इस कामना से लगा कोई दोष नहीं है अधर्म पूर्वक नहीं होना चाहिए इतना ध्यान रखना है और ऐसा जो चला है कुछ वर्षों तक और जान समझ पूर्वक चला है तो उसको पता लगेगा यहां भी जो सुख मैं चाह रहा था वो नहीं मिला है जो ऊंचा लक्ष्य लेके चला था जो उपलब्धि मन में सोच के चला था वो यहां भी नहीं मिल पा रही है ये उसको खूब पता लगेगा तब वो इससे भी ऊपर उठेगा और निष्काम बनेगा इसलिए सच्ची निष्कामता कभी भी निष्क्रिय नहीं बनाती है सक्रिय रहेगा वो व्यक्ति इस विषय को इतना ही रखते हैं किन्हीं को पूछना है कुछ पूछें वैसे तो शाब्दिक अर्थ यही है कामना से रहित लेकिन जब शब्द का मुख्य अर्थ घटता नहीं है तो उसका दूसरा अर्थ लिया जाता है कामना से रहित कोई होता ही नहीं है मिलता ही नहीं है लेकिन फिर भी निष्कामता कहा जा रहा है इसका मतलब अर्थ तो कुछ ना कुछ है कुछ प्रयोजन से तो कहा गया है और निष्काम कोई मिल नहीं रहा है पूरी तरह कामनाओं से रहित तो उसका मतलब वही है जो पहले बताया लौकिक सुखों की कामना से रहित होना लौकिक सुखों को जीवन का लक्ष्य न बना लेना ये निष्कामता है मुक्ति का लक्ष्य रखना ये निष्कामता यही लगता जी जैसे कोई निष्काम करना चाहता

अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं लोग मुझे विद्वान समझेंगे उससे मुझको धन मिलेगा मेरे को बुलाएंगे ये कामना है और लौकिक लक्ष्य बना हुआ है यश और धन ऐसा किसी को हो सकता है और जैसा आचार्य जी आज सुबह प्रवचन में कह रहे थे न्याय दर्शन का दुरुपयोग भी कर सकता है कोई अधन पूर्वक भी न्याय दर्शन का उपयोग कर सकता है कोई दुरुपयोग करेगा किसी के मन में ये इच्छा हो सकती है कि लोग मुझे समझे देखो कितना तपस्वी है स्वाध्याय कर रहा है सांसारिक सुख छोड़ करके और इच्छा नहीं है शास्त्र को पढ़ के कुछ उपयोग लूंगा जीवन को अच्छा बनाऊंगा ऐसा कुछ नहीं लेकिन लोग ऐसा समझेंगे अब ये निष्कामता नहीं है कोई केवल इसलिए आ जाए कि भाई और तो काम है नहीं चलो वहां समय गुजर जाएगा एक साल ये भी निष्कामता नहीं है कोई सोचते हैं कि चलो कुछ संस्कार पड़ जाएंगे ये निष्क्रियता की बात है ये जो वचन है ना ये निष्क्रियता है हालांकि ये अध्यात्म में बहुत अच्छा माना जाता है और ऐसे लोगों को ये शब्द कहा जाता है जो कुछ कर नहीं सकते चलो प्रवचन सुनते हैं कुछ तो संस्कार पढ़ेंगे ये आलसियों की भाषा है निष्क्रियों की भाषा है नहीं ये ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं ऐसी बातें हैं तो ये सकाम है और यदि तो ये सोचता है ये सोचती है कि इसके पढ़ने से मुझे विवेक होगा मैं सत और असत का विवेक कर सकूंगा कर सकूंगी जिससे मैं सत्य का ग्रहण कर पाऊंगा मैं अभी सत्य को ग्रहण करना चाहता चाहती हुए भी सत्य ग्रहण नहीं कर पाता हूं नहीं पाती हूं क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है और जब तक मेरे को ठीक ज्ञान नहीं होगा मैं मुक्ति को नहीं पा सकूंगा इस भावना से यदि कोई पढ़ रहा है निष्काम कर्म वही कर्म है संख्य दर्शन में सूत्र भी आया है काम्या काम्ये भी साध्यत्व अविशेषात यूं लक्ष्य की दृष्टि से काम्य कर्म अकाम्य कर्म में अंतर नहीं दिखेगा बाहर के स्वरूप में कोई अंतर नहीं दिखेगा ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा भावना का अंतर रहेगा सकाम और निष्काम ये कामना मन की बात है तो मुक्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समझ करके कि इससे मेरे को मुक्ति में कैसे सहायता होगी ये करके यदि कोई बैठता है पढ़ता है जितना भी आता है कम या अधिक अपनी योग्यता के अनुसार उसे निष्काम कह सकते हैं नहीं तो सकाम है एक जैसे गीता के लिए भी आता है बहुत कि गीता क्या कहती है निष्काम कर्म की बात करती है लेकिन कर्म की तो बात करती है कर्म से तो विरत की नहीं बात नहीं करती है लेकिन जो निष्काम करने वाले होते हैं वो कर्म से ही विरत हो जाते हैं फिर ऐसा जो दोष आता है वो गलत है कुछ तो मानव जाति मानव जाति ऐसा मेरा मानना है इसलिए जो मानव जात को मदद करे और मानव जात सर्वोपरि लेकिन सर्वोपरि तो यही सब हो गए और मानव जात गुलाम है ये सर्वोपरि हो गए और मानव जाति गुलाम हो गई वो बंधन हो गए जी वो छोड़ने के लिए मानव जात को मदद करने के लिए अभी मानव जात उनके नीचे आ गए ऐसा मेरा प्रश्न तो हम गुलाम नहीं है ऐसा ये गुलामी के लिए नहीं है ये धर्म ये शास्त्र ये हमारे लिए है हमारे उत्थान के लिए है ये बिल्कुल ठीक है इनसे हमारा उत्थान होता है तो ठीक है इनको यदि हम अपना बंधन बना लेते हैं हम इनके बोझ तले चले जाते हैं ये गलत है ये गलत है आप रोटी खाना खाना खाना ये सब किस लिए था बल और स्वास्थ्य के लिए था फल किसके लिए थे दूध किसके लिए था सूखे मेवे किसके लिए थे स्वास्थ्य और बल के लिए थे और ये रोग का कारण बन रहे अति भोजन जन्य आयुर्वेद की दृष्टि से कहें संतर्पण जन्य रोग अधिक खाने से होने वाले रोग अधिकांश आजकल हो रहे हैं किसका दोष है मानव जाति भोजन के तले दब गई ना इससे भोजन का दोष नहीं कह सकते भोजन हमारे हित के लिए ही था हम स्वयं उसके नीचे दब गए हैं क्योंकि हमने अधिक खा लिया हमने उसे समझा नहीं उसका उपयोग ठीक नहीं समझा यही बात धर्म के लिए भी लगेगी ग्रंथों के लिए भी लगेगी यदि हमने इनको गलत समझा और उपयोग नहीं किया तो हम इसके नीचे दबेंगे परिवार किस लिए था शादी किस लिए की थी उन्नति के लिए की थी पति पत्नी बच्चे सबकी उन्नति के लिए उल्टा नहीं होता है वही बोझ बन जाता है आदमी उसके नीचे दब जाता है ना परिवार के नीचे दब जाता है परिवार का गुलाम बन जाता है धर्म तो ये सिखाता है कि इनके गुलाम नहीं बनना है हमें इंद्रियां हैं नेत्र श्रोत्र हम इसके नीचे दब गए नहीं आज का मानव इनका गुलाम बन गया है नहीं इंद्रियों का लेकिन ये इसलिए तो नहीं थी धर्म तो यही सिखाता है कि ये इंद्रियां साधन है स्वामी नहीं है स्वामी हम हैं हम इनके गुलाम नहीं है इनकी गुलामी छोड़ करके स्वतंत्र हो जाओ इनके से पृथक हो जाओ आसक्ति से रहित हो जाओ धर्म तो यही कहता है अध्यात्म तो यही कहता है तो हम इसके गुलाम बन गए हैं अब आपका जो अभिप्राय है कि लोग धर्म के गुलाम बन गए हैं उसके आप एक दो उदाहरण बताइए देखिए अभी जो तो आप बता रहे हैं उसमें मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि धर्म और आध्यात्म वास्तव में तो दोनों एक ही हैं लेकिन थोड़ा अंतर हम इस तरह कर लेते हैं कि धर्म व्यापक है जिसमें राजनीति भी आती है सेना भी आती है अन्न उत्पादन कैसे हो क्या हो ये सारी चीजें आती हैं जिसमें और अध्यात्म उसका एक भाग है जिसमें आत्मिक उन्नति अधिक केंद्रित है धर्म के अंतर्गत ही अध्यात्म आता है अध्यात्म धर्म से युक्त ही होता है और जो अध्यात्म धर्म से रहित है वो अध्यात्म ही नहीं है और जिस धर्म में अध्यात्म नहीं है वो धर्म धर्म ही नहीं है जुड़े हुए हैं पर कुछ थोड़ी व्यापकता और इस दृष्टि से भेद कर सकते हैं लेकिन मैं आपसे फिर वही प्रश्न पूछ रहा हूं कि आदमी इनके तले दब गया है ईश्वर के वेद के ग्रंथों के उसके तले दबने का इनके गुलाम बनने का मतलब क्या है उसका मतलब क्या है जैसे हम गुलाम बने हुए हैं वेद के कि वेद जो कहेगा वही करेंगे उसके विपरीत नहीं करेंगे ये गुलामी है इसे गुलामी आप कह रहे हैं हम अधर्म नहीं करेंगे धर्म ही करेंगे भले ही लाख करोड़ रुपया आ रहा है झूठ बोलने से लेकिन नहीं लेंगे ये हम गुलाम बने हुए हैं ये परतंत्र बने हुए हैं नहीं तो आदमी स्वतंत्र रहेगा चाहे जो करे स्वतंत्रता का मतलब गुलाम ना होने का मतलब है जो चाहे वो कर सके ये स्वतंत्रता और गुलाम कौन होता है जो अपनी स्वतंत्रता से ना कर सके वो गुलाम यही यही मतलब है ना आपका सड़क पे जो चलते हैं गाड़ियां चलती हैं किस दिशा में चलाते हैं आप बाई तरफ गुलामी का सूचक है स्वतंत्रता रखेंगे तो क्या होगा चौराहे पे बत्ती होगी वो निकलेगा हरी बत्ती होगी नहीं तो खड़ा रहेगा गुलामी का सूचक है गुलामी का सूचक है <clears throat> ये गुलामी हितकर है अहितकर है है जी हितकर है लेकिन जब हम जब हम गुलामी शब्द का प्रयोग करते हैं ये निंदनीय अर्थ में है यदि वो हितकर है तो गुलामी ये गुलामी निंदनीय अर्थ में नहीं आ सकती जो स्वतंत्रता की बात आप कर रहे हैं वो श्रृंखलता है सड़क पर कोई भी कभी भी जाए चौराहे पे जा रहे हैं तो फंसेंगे गुजरात में तो बसों में फिर भी पंक्ति से चढ़ते हैं दूसरी जगह दिक्कत होती है बहुत अब सब घुस रहे हैं क्या है स्वतंत्रता और पंक्ति से जा रहे हैं तो गुलामी ऐसी गुलामी अच्छी है हितकर है ये गुलामी गुलामी नहीं है ये बुद्धिपूर्वक प्रयोग है कि हमें ऐसा चलना है अब किसी ने निश्चय किया कि मैं दिन में तीन बार चार बार भोजन लूंगा एक जब चाहे तब ले रहा है कौन गुलाम है चार वाला गुलाम है ना इसे हम गुलामी कहते हैं तो ये गलत अर्थ है ये गुलामी नहीं है भोजन में भी समझ में आता है और चिकित्सक ने कहा दिन में चार बार गोली लेना छह छह घंटे से क्योंकि दवाई का असर इतना है पांच छह घंटे तक असर होता है फिर दूसरी दवाई छह घंटे बाद लेनी है आपको ले तो गुलामी है वो दो दो घंटे में लेगा कहीं आठ घंटे में लेगा ये स्वतंत्रता है स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं होता ये स्वच्छंदता उच्छृंखलता है ये नाश की तरफ ले जाती है इसलिए यदि धर्म के अनुशासन में चलना संविधान के अनुशासन में चलना सामाजिक नियमों में चलने को यदि गुलामी कहा जाता है तो वो वो गुलामी नहीं है गुलामी किसे कहते हैं जब हम अपनी स्वतंत्रता से अपना हित नहीं कर सकते हो ये जो गुलामियों के मैंने उदाहरण दिए जिनको आप गुलामी समझ रहे हैं इसमें तो हम अपना हित कर रहे हैं समाज का हित कर रहे हैं ये गुलामी नहीं है गुलामी वो कहलाती है जब हम अपनी इच्छा से अपना हित नहीं कर सकते प्रगति में बाधा हो रही है हमारी तो गुलामी कहलाएगी और स्वतंत्र होकर के हम यदि बिगड़ रहे हैं तो ये स्वतंत्रता नहीं है स्वतंत्र होकर के यदि हम प्रगति कर रहे हैं इच्छा अनुसार बढ़ रहे हैं तो वो स्वतंत्रता कहलाती है तो जो उचित ढंग से इस शासन अनुशासन में रहते हैं ये वैसी गुलामी नहीं है ये तो हितकर है और हम तो उसे पसंद करते हैं और हर राष्ट्र भारत से ज्यादा विदेशी लोग इस नियम को इस गुलामी को पसंद करते हैं जबकि वो स्वतंत्रता को चाहने वाले हैं हमारे यहां कहा है नियम देखिए उच्चृंखलता है इस स्वतंत्रता को भी हम कलंक कहते हैं कि ये भी कोई स्वतंत्रता हुई यहां इतना भ्रष्टाचार और ये है और एक विदेश में देखिए आप कितने कानून हैं कितने नियम हैं थोड़ा सा उल्लंघन कर दीजिए वाहन का कितना दंड होता है जबकि वो स्वतंत्र हैं वो भी गर्व करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं हम स्वतंत्र होते हुए गर्व नहीं कर सकते कि हम स्वतंत्र हैं हमें शर्म आती है अपनी स्वतंत्रता तो नियमों में उचित ढंग से रहना जिससे प्रगति होती है प्रगति की स्वतंत्रता है लेकिन हमारी प्रगति की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक ना बने ये नियम तो रहेगा ही धर्म जिस नियम की बात करता है जिस नियम को लगाता है वो किस लिए कि उस नियम के कारण ही हम दूसरे को हानि पहुंचाने से बचते हैं और अपना हित कर सकते हैं ये तो आवश्यक है और दुनिया में जो आप कहते हैं कि उस अर्थों में वास्तव में जो आपका अर्थ हो सकता है कि लोग गुलाम बने हुए हैं वो कैसे गुलाम बने हुए हैं कि धर्म ने कह दिया मृत्यु के बाद में घर में मृत्यु हो जाए तो पूरे गांव को खाना खिलाना है पैसा ही नहीं है उसके पास में लेकिन समाज का दबाव इतना अधिक है नहीं आपको मृत्यु भोज करना पड़ेगा लोग क्या कहेंगे दस बातें हो कहने लगते हैं उंगलियां उठने लगती हैं और वो अपना खेत गिरवी रख करके भी भोजन कराता है और वर्षों तक निर्धन रहता है कर्ज में रहता है ये गुलामी है ऐसी ये जो अंधविश्वास हैं जो धर्म के नाम से प्रचलित हैं इनके नीचे समाज दबा हुआ है जाति प्रथा छुआछूत ऊंच नीच जन्म से जाति मानना इत्यादि जो भेद और कुरीतियां हैं ये जो धर्म के नाम से कही जाती हैं जो कि वास्तव में धर्म है ही नहीं इनके नीचे दबा हुआ है उस रूप में गुलामी आप कह रहे हैं तो वो अवश्य गुलामी है और कोई तो इस विषय को इतना ही रखते हैं